विद्वदगण धर्म प्रेमी सज्जनों माताओं प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को चरम लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए कर्म उपासना इन तीनों का संतुलन बनाया रखे जो व्यक्ति इन तीनों का संतुलन नहीं बनाया रखता वह व्यक्ति अपने चरम लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति करना और करवाना इस पर नहीं पहुंच पाता संसार के अंदर प्रत्यक्ष रूप से देखा जाता है कि व्यक्ति का इन तीनों विषयों में संतुलन नहीं रहता व्यक्ति की बुद्धिमत्ता इस बात में है कि वह अपने लक्ष्य पर पहुंचे और लक्ष्य पर पहुंचने के लिए इन तीनों को उचित रूप में संतुलित रखें कभी कभी व्यक्ति का जीवन एक विषय को लेकर के चलता है और वह विषय भी उसका पूरा नहीं होता अर्थात आज के विद्यालयों में विश्वविद्यालयों में कॉलेजों में जो विद्या पढ़ाई जाती है वहां पढ़ने और पढ़ाने वालों का जो संतुलन है वो ज्ञान के क्षेत्र में ही असंतुलित हो गया संतुलन नहीं रहा वहीं से खराब हो गया इस संबंध में आप सोचेंगे कि एक ज्ञान के विषय में ही संतुलन कैसे बिगड़ा आजकल भूगोल में प्रायः एक भौतिक विज्ञान को ही प्रमुख माना जाता है भौतिक विज्ञान को ही सर्वोपरि माना जाता है भौतिक विज्ञान को ही विशेष रूप से पढ़ाया जाता है और पढ़ा जाता है भौतिक विज्ञान से जो उपलब्धियां होती हैं वही अंतिम चरम लक्ष्य माना जाता है वहां पर ईश्वर के विषय में कोई अध्ययन अध्यापन की आवश्यकता नहीं समझी जाती जीव आत्मा के विषय में कोई अध्ययन अध्यापन की आवश्यकता नहीं समझी जाती धर्म के विषय में कोई आवश्यकता नहीं समझी जाती अगले जन्म के विषय में कोई आवश्यकता नहीं समझी जाती ये संतुलन बिगड़ गया ज्ञान के विषय में यदि संतुलन बिगड़ता है तो कर्म के क्षेत्र में भी संतुलन बिगड़ेगा उसको कोई रोक नहीं सकता ज्ञान के विषय में संतुलित ठीक नहीं है व्यक्ति तो उपासना भक्ति के विषय में भी वो ठीक नहीं रह सकता वैदिक परंपरा प्राचीन ऋषियों की परंपरा में ज्ञान के विषय में ईश्वर एक जीवात्मा दो भौतिक विज्ञान तीन ये संतुलन था गुरुकुल में विद्यालयों में ईश्वर जीव प्रकृति भौतिक विज्ञान ये तीनों को पढ़ाते थे तीनों को साथ लेके चलते थे तो जब तीनों को साथ लेके चलते थे तो जो विद्यार्थी पढ़ता था तीनों विद्याओं को जानता था उन तीनों विद्याओं के जानने से वो धार्मिक होता था ईश्वर उपासक होता था चरित्रवान होता था पाप पुण्य को मानता था आज पढ़ा लिखा M A B A P H D न ईश्वर को मानता है न वो धर्म को मानता है न ईश्वर की उपासना को मानता है पूरा व्यक्ति और भारत की स्थिति तो ये बन चुकी है जितना पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो उतना ही चालाकी छल कपट जितने भी आप सुनते हैं सारे कार्य करके वो धनवान बन जाता है अधिकारी बन जाता है सब कुछ करता है ये बनता है पढ़ा लिखा आजकल पढ़े लिखे लोगों से ये आशा की जाती है ये आने वाली पीढ़ी को विद्वान बनाएंगे ये मार्ग दिखाएंगे आने वाली पीढ़ी को ये धार्मिक बनाएंगे संयमी बनाएंगे देशभक्त बनाएंगे पर ये जितने पढ़े लिखे एकाध को छोड़ो एकाध व्यक्ति इनमें से हटा दो शेष व्यक्ति व्यक्ति को मूर्ख बनाते हैं अधर्मी बनाते हैं अन्यायकारी बनाते हैं पक्षपाती बनाते हैं पता नहीं क्या क्या बनाते इनकी स्थिति है कारण वही मूल में न माताजी उसको धर्म की शिक्षा देती न माताजी आत्मा परमात्मा की शिक्षा देती उसको न उसको उपासना भक्ति सिखाती न फिर पिता थोड़ा सा बड़ा होने पर न वो ईश्वर भक्ति सिखाता न वो धार्मिक धर्म की शिक्षा देता फिर आचार्य गुरु के पास में जाते वो भी कोई धर्म की शिक्षा नहीं देता तीनों के तीनों व्यक्ति बिगाड़ के व्यक्ति को खड़ा कर देते ऐसा प्रतीत होता है यदि कुछ कठोर भाषा में बोला जाए तो तीनों के तीनों व्यक्ति को बिगाड़ बिगाड़ करके समाज को दे देते माता को बड़ा गुरु माना गया बाल्य अवस्था से जैसे संस्कार बच्चे पर पड़ते हैं वैसे बड़ी अवस्था में नहीं पड़ते ये नियम है पांच वर्ष की बात छह वर्ष की बात आज हम याद करें तो झट हो जाएंगे और कल की बात हम याद करें तो आज समझ नहीं होगी इतनी समन शक्ति उस समय काम करती अब माता जी क्या सिखाती है नाचना गाना और वस्त्र इधर से उधर पहनना और जो बटन सुविधापूर्वक बच्चा भी बंद कर लेना वो पीछे लगाएगी यहाँ यहाँ वो बच्चा बेचारा बटन भी बंद नहीं कर सकता अब बताओ इसमें कौन सी बुद्धिमत्ता थी कि यहाँ से बटन हटा के पीछे लगा दो तो बच्चा ऊपर उठ जाएगा अब कोई मूर्खता की सीमा तो होती है कहीं नहीं स्वामी दान सरस्वती जी ने एक बात कही कि भाई जब विधान इनका जब की विधि जो सुनो तो जब कैसे कर जब की विधि एक व्यक्ति दरिद्र कंगाल हो गया राजा के पास में गया राजा जी मेरी कुछ तनख्वाह उनका वेतन कुछ बांध दो तो राजा ने कहा कि आप क्या काम करेंगे मैं आपका जब करूंगा अच्छा तो वो जाके बैठ गया जैसे किनारे पर ऐसा ऋषि ने उसके भाव सुना रहा तो मैं राजा का जप करूं जी मैं राजा का जप करूं मैं राजा का जप करूं वो राजा का जप जप करने का मतलब ये फिर एक पड़ोसी ने सोचा उसको जब इतना वेतन मिलने लगे तो तू भी तो जाके प्रार्थना कर राजा से ऋषि ने जाके कहा राजा जी मेरा भी कुछ बांधो तो राजा ने पूछा आप क्या करेंगे जो वो करता है वो ही मैं करूंगा अच्छा उसने कहा चलो इसका भी बांध दो थोड़ा सा तो वो कहता है तू करे सो मैं करूं जी तू करे सो मैं करूं तू करे सो मैं तीसरा आया उसने भी यही कहा कि भाई ऐसा कब तक नहीं बहेगा ये कब तक नहीं बहेगा अच्छा चलो इसको ही कर दो ऐसा नहीं बहेगा कब तक ऐसा नहीं बहेगा वो जाके उसके पीछे जब करने लगे भला कोई मूर्खता की सीमा भी तो होती है या नहीं और आश्चर्य की बात है कि महामूर्ख होता हुआ अपने को सबसे विद्वान मानना अब जैसे मैं उदाहरण देता हूं ये पढ़े लिखे लोग जिनको मनोविज्ञान उल्टा आता है उल्टा कैसे ये कहते देखो भाइयों एक मन एक चेतन मन होता है एक अचेतन मन होता है अब भला जड़ पदार्थ है मन मन चेतन है ही नहीं तो एक चेतन मन होता है एक अचेतन अब मूर्खता वहीं से आरंभ कर देना मन प्राकृतिक पदार्थ है जड़ पदार्थ है मन को हम चलाते हैं ये सिखाना था उसको और सिखा दिया ये कि एक चेतन मन होता है एक अचेतन मन होता है दो मन होते हैं तो ये जो लोगों की स्थिति अंध परंपरा चली और आजकल आपने सुना होगा भारत के लोग पांच वर्ष के बालक बालिकाओं को जैसे ऑस्ट्रेलिया में मूर्खता चलती है कि पांच वर्ष का बालक बालिका यदि धमका दिया जाए अर्थात थप्पड़ मार दो एक दो एक और वो शिकायत कर दे तो उसको दंड मिलेगा कोई थप्पड़ नहीं मार सकता पांच वर्ष ये मूर्खता यहाँ सिखाई जा रही है आजकल वो कहते ये ये मनोविज्ञान है और सारे लड़के लड़कियों को बिगाड़ के रखेगा ये कितनी मूर्खता की बातें सिखाई जाती फिर ये आशा रखो ये राजा बनेंगे ये हमारा भला करेंगे ये ऊपर प्रधानमंत्री बनेंगे हमारा भला करेंगे ये जितने भी बन रहे ऐसे ही स्थिति में बनेंगे ये विनाश के सिवाय कुछ नहीं करेंगे बचना हो तो बच जाओ और न बचना हो तो भेड़ के पीछे भेड़ चलो डूबो भेड़ के पीछे डे ये स्थिति वर्तमान इन माताओं का पता नहीं होश वास कहां चला गया ये बैठी इसलिए सुना रहा हूं सुनाना भी चाहिए बच्चे को जितना बिगाड़ा जा सकता है उतना बिगाड़ती है आजकल जब वो दो चार चार वर्ष का होता है तो टेलीविजन के नाच गाने पर बैठाएंगी गोदी में लेके बैठ जाएंगी और स्वयं देखेंगी उसको दिखाएंगे वहीं तीन चार पीढ़ी बैठी रहेंगी और उल्टा सीधा वो बच्चा सारी बात उसकी याद करेगा ना धर्म की बात याद करेगा ना गायत्री याद करेगा ना नमस्ते याद करेगा ना आर्य समाज को याद वो बच्चा इतना बिगड़ेगा पांच वर्ष में इतना बिगड़ जाएगा उसको धरती पे कोई सुधारने वाला नहीं मिलेगा इतना बिगड़ जाता सुनता ही नहीं किसी की मां कहेगी बेटा स्वामी जी की बात सुनो पंडित जी की बात सुनो नहीं सुनो वो तत्काल निषेध करता बिल्कुल निषेध करता और वो देखती रहती है इनको ये पता रहना चाहिए ये जो उत्तरदायित्व है माता पिता गुरु का है इसको छोड़ने से ऐसा भयंकर दंड मिलेगा गधा घोड़ा सूर बनना पड़ेगा अगले जन्म छूट नहीं सकता इसके दिमाग में बात आ जानी चाहिए यदि ये बात दिमाग में आएगी तो व्यक्ति पाप से बचेगा मुझे भी ये सूर पड़ा कीचड़ में ऐसा बनना पड़ेगा तो बचता है वो और कहता अगला जन्म किसने देखा है अगला जन्म किसने देखा है अगला जन्म किसी ने नहीं देखा है कहने की बात है ये सब जगह सब जगह लोगों ने प्रचार कर दिया अगला जन्म किसी ने देखा अच्छा भाई मनमाना पाप करो और वो पाप यहां तक बढ़ गया कोई भी व्यक्ति कहीं भी सुरक्षित नहीं पाप यहां तक बढ़ गया आप अनुभव करती या नहीं करती आपका कैसा अनुभव है देख लो आप ये देखो सबसे संपन्न शक्तिशाली बहुत सावधान अमेरिका जैसे देश को कहते हैं आज अमेरिका ऐसे कांप रहा है इतना होते हुए एक मिनट उसको चैन नहीं है वो भोग विलास में रस लेना चाह रहा था वो रस उसका छुड़वा दिया आतंकवादियों ने वो रसदे ले रहा था ना भोग विलास में वो आतंकवादियों ने छिड़वा दिया इनके दिमाग में ये बात नहीं थी पहले उसमें घटना हुई थी इसी काल में इसी में थी ना वो ग्यारह को वो घटना घट जाएगी राम राम भोग विलास को छोड़ करके भाग दौड़ में चलेंगे बचाओ बचाओ पैसा लग जाएंगे को यही पता नहीं भले व्यक्ति तूने ही आतंकवाद उत्पन्न किया और तू रो रहे आतंकवाद को आतंकवाद को बनाया उसने और एक और तो कहेगा आतंकवाद को खत्म करूंगा और एक और को सहायता देता जाएगा भला इतना मूर्ख कौन व्यक्ति है उसकी चाल गतिविधि को देखेगा तो दूसरा भी ऐसा ही करेगा आजकल के लोग ऐसा सोचते हैं हम जो कर रहे हमारी तो बात कोई देखेगा नहीं और हम औरों की देखते रहेंगे और चालाकी चलते रहेंगे वो ऐसा मानता है अब देखो थोड़ा सा मैं संकेत करता हूं आज इन्हें गिने लोग बहुत कम वेद को पढ़ो शास्त्रों को पढ़ो अंगुपांग पढ़ो वैदिक रीति से महर्षि ने लिखा महर्षि दान सत्य विद्वान बनो उसके लिए न माता अपने बच्चे को पढ़ाना चाहती न पिता अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता न संबंधी पढ़ाना चाहते न सरकार उसको एक पैसा देगी सरकार तो यहां तक योजना बनाती रहती है कि संस्कृत भाषा को समाप्त करो ये योजना पीछे पड़ने चली थी पर न्यायाधीश अच्छे थे बताया जाता उसने रोक दिया नहीं संस्कृत भाषा रहनी चाहिए नहीं तो समाप्त कर राजीव जी के समय में थी लग इनका दिमाग तो ये है और ये भारत के लोग अपने विनाश के लिए स्वयं खाई खोद रहे ये जो आपको दिख रहा ये हमारा विद्यालय है आपको पता है ये कितनी कठिनाई से हम चलाते हैं सरकार नाम की कोई चीज है इसके लिए एक पैसा भी देती हो तो कभी गृहस्थी लोग अपने बच्चों का पालन करते हैं ऐसा क्या इसके लिए सहयोग देते हैं नहीं ये तो हम अपना एडी से चोटी तक का जोर लगाते हैं और लोगों को बताते हैं देखो बचाओ इन्हें गिने लोग हैं जो इसमें कुछ थोड़ा सा सहयोग देते हैं एक युवक आता है यहाँ एम बी जब तक वो एम बी की कक्षा में पढ़ता था तब तक माता पिता दो तीन हजार और ट्यूशन जिसको बोलते हैं उसके लिए अलग उसके लिए खर्च करता रहा जिस दिन विद्यालय में आया उस दिन उसने एक पैसा नहीं दिया विद्यालय हमारे विद्यालय की घटना है पढ़ाए एक आध को छोड़ भला इतनी विचित्र बात जिसके लिए हम सब कुछ करते हैं राष्ट्र को बचाने के लिए वैदिक संस्कृति को बचाने के लिए अपनी स्वतंत्रता भारत की को बचाने के लिए पूरा तनमन धन लगा रहे हैं उसके लिए ये स्थिति बताइए विनाश होगा या नहीं होगा आज यदि एक युवा पीढ़ी को हजारों जगह पर ऐसे गुरुकुलों की पाठशालाओं की स्थापना की जाए और ऐसे चाहे उसमें पंद्रह पंद्रह भी क्यों न हो और उनको देश जाति के लिए ईश्वर भक्ति के लिए भरा जाए तो हम भारत को बचा सकते पर उसके लिए कोई व्यवस्था करने के लिए तैयार नहीं विद्वान चाहिए विद्वान क्या करते हैं अपने प्रवचनों से अपनी लेखनी से अपने उपदेश से सबको जगा देते जगो क्या होने वाला है जाग जाओ वो जगाते हैं अच्छा जब विद्वान नहीं होते तो व्यक्ति सो जाते उनको कोई पता नहीं चलता हमको क्या करना चाहिए सोए जैसे रहते आज जो भारत के लोग जो है विद्वानों की कमी होने के कारण वो प्राय अपने देश के विषय में सोए जैसे जो कोई एकाध विद्वान जगाने वाला है वो बताता है देखो भाइयों जाग जाओ वो कहता है अब भारत देश पराधीन होने जा रहा है अब वर्तमान काल बड़ी खोज करने वाले युवक हैं राजीव जी दीक्षित वो कितने विषयों में बताते हैं विषयों में इस विषय में भारत पराधीन हो चुका है और धीरे धीरे ये भारत इतना पराधीन हो जाएगा ये भूमि भी हमारे हाथ से जाएगी आज की जो स्थिति जैसे कुछ उदाहरण देता हूं परीक्षण ये बताता है विदेश की वस्तुएं भारत में बिकने के लिए आती हैं और भारत देश उन पर कर लगाना चाहता है उन वस्तुओं पर इतना कर लगेगा भारत ने विदेश से ऋण ले रखा है ऋण की बात दूर नहीं उसका ब्याज भी नहीं दिया गया है जब वो विधान संविधान कानून बनाने लगता है भारत लोकसभा भवन में जो पांच के लोग बैठे हैं जहां जहां जूतियों से पिटाई करता है एक दूसरे की या मारते हैं जूते चप्पल ये इनका संविधान चप्पल मारते हैं एक दूसरे को इनके दिमाग में इतनी बात नहीं है चप्पल मारने वाला वहां बैठ नहीं सकता यदि ऐसा कानून बनाइए कौन मारेगा किसी को चप्पल फेंकेगा नहीं ऐसे मूर्खता के संविधान है आप एक दंड विधान बना दीजिए जो यहां आकर के बात कर सकता है अतिरिक्त यदि कोई भी करेगा तो दंड तत्काल मिलेगा कोई भी लोकसभा में जूते चप्पल मारना मूर्खता की बात कर ही नहीं सकता ये खूब धन माल उड़ाते हैं वहाँ एक दिन का क्या खर्चा लगता है सारों का और सारा धन कर हमारे ऊपर पड़ता है उनका जो लोग हम बैठे उनका कर हम भरते रहेंगे और वो बकवास करते रहेंगे वहाँ वो लड़ते रहेंगे वहाँ संविधान की बात तो दूर रही वो वहां झगड़ते रहते और मजे उड़ाते और रोज कितना खर्चा है उनका तो आगे बढ़िए जब वो कानून नियम बनाने लगे कि विदेश की वस्तुओं पर इतना कर लगेगा तो विदेश से जो ऋण लेते हैं अपनी गद्दी को बचाने के लिए ऋण लिया जाता है अपनी गद्दी को सुरक्षित करने के ऋण लिया जाता है और अनाप शनाप खर्चा होता है तो जिसका ऋण लिया था विदेशी का वो कहता है आप ध्यान दें ये कानून ये नियम बना रहे हैं कि विदेश की वस्तुओं पर इतना कर लगेगा आप ये कानून नहीं बना सकते हमारा पहले वाला ऋण और ब्याज दे दीजिए फिर कानून की बात करेंगे वही कानून रुक जाएगा आप जाके देख सकते हैं कानून नहीं बनाया जाएगा संविधान नहीं बनेगा विदेशी का डंडा घूमेगा पीछे ये पराधीन है कानून बनाने में पराधीन बना दिया भारत को अब दूसरी बात सुन लो विदेशी कंपनियों पर जो यहां भारत में उन पर जो चीजें का उत्पादन होता है और उन वस्तुओं पर जो कर लगता है उनके लिए सुविधाएं उनके ऊपर कर कम लगेगा और भारत की कंपनी और कारखाने में अधिक कर लगेगा और इनकी चीजें बिकेंगी भारत की बंद क्या समझे आप नहीं आया समझ में मोटी भाषा है तो कोई आत्मा परमात्मा का विषय नहीं छेड़ रखा समझ में आया ये विदेशी कंपनियां यहां के कारखानों की कथा सुना रहा हूं मैं आप उनको सुविधा दे दी वो खूब उत्पादन करेंगे और थोड़ा मूल्य रखेंगे उसका और फिर भी उनको हानि नहीं भारत का यदि थोड़ा मूल्य रखते हैं तो उत्पादन नहीं कर सकते वो अधिक रखते हैं तो बाहर के लोग लेंगे नहीं विदेश में धन जाता है और उनके कथनानुसार विदेश में जो धन जाता है उनसे अस्तर शस्त्र बनते और भारत की मौत का कारण वो धन बनता है जो हमारा धन विदेशियों के हाथ में जाता है वो हमारा धन भारत का धन विदेशियों के हाथ में उनसे अस्त्र शस्त्रों का निर्माण उनसे हमारी मौत और ये बैठे बैठे देखते इन्होंने तो गद्दी की रक्षा करनी थी इतना वो लिया एक दिन उन्होंने एक बात सुनाई कहने लगे एक बात सुनाओ हाँ सुनाओ कहने लगे जो राष्ट्रपति है ये तो कुछ काम कर लेता है करता रहता है तो उन्होंने कहा उपराष्ट्रपति एक टके का काम नहीं करता नहीं समझे मेरी बात उपराष्ट्रपति एक टके का काम नहीं करता और उसके साथी रक्षक सेवक इतना करोड़ रुपया उस पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पर खर्च होता बताइए हमारे ऊपर कर अब भले व्यक्ति ये काम ही नहीं करता इसके ऊपर इतना खर्च क्यों ऊपर जाके बैठ गया अब उल्टे कानून उल्टा संविधान बनता है और चक्की उसके हाथ में चलती है पांच वर्ष में मारा मार फिर उसको उखाड़ के फेंक दिया आया दूसरा वो कहने का भाइयों तुमको स्वर्ग में मैं पहुंचाऊंगा पांच वर्ष में वो माला मान वो फिर उखाड़ दिया रोज का इनका ये काम और कुछ और सुन लो इनकी कथा जिस समय झगड़े होते हैं कहीं संप्रदाय की बात उठती है उस समय की कथा सुन लो जितने गति पर बैठे भारत के लोग जो अपने आप को भारतीय कहते हैं ये जो भारत को उखाड़ने वाले भारत को पराधीन बनाने वाले उनका पक्ष लेंगे आप कभी देख लेना क्या समझे मेरी बात भारतीयों का पक्ष नहीं लेंगे ये उनका पक्ष लेंगे उनसे मतदान लेके गद्दी पकड़नी है अपने को तो ये कहेंगे भाई हम तो भाई भाई हैं आप मेरा वोट दे देना इनको तो ऐसे पकड़ेंगे आप जैसे को और उनको इसलिए पकड़ेंगे देखो तुम्हारे साथ में घटना घटी थी तुम्हारा पक्ष लिया मैंने उनसे ऐसे मतदान लेंगे इनका ये पढ़ाए की घटना भारत में होती रहती है कि वहां की विदेश की बात विदेशियों के ऊपर कोई ऐसा झगड़ा हो जाए तो सारे उछलेंगे कूदेंगे ये हो गया वो हो गया ये हो गया और भारतीयों के ऊपर यदि वो हजारों मर जाए तब भी चुप रहेंगे कोई नहीं बोलेगा ये भारतीयों का ये स्वतंत्र भारत ये भारतीयों की स्थिति है बताइए मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं कुछ लोग हैं यहां बैठे कुछ तो सुन लोगे थोड़ा बहुत तो बताना समझाना हमारा कार्य है मानना नहीं मानना ये लोगों का काम है तो ये जो संतुलन बिगड़ा व्यक्ति का जब ज्ञान कर्म उपासना का संतुलन बिगड़ा तो सारे विद्यालयों में आज आपके बालक बालिकाएं जो पढ़ते हैं वहां आत्मा परमात्मा का नाम निशान नहीं वहां धर्म का नाम निशान नहीं ये स्थिति उनके हाथ में वही राजा बनते वहां से संतुलन बिगड़ गया और ये याद रखिए जब व्यक्ति का ज्ञान खराब हो जाता है संतुलन बिगड़ता है तो कर्म भी खराब हो जाएगा आप देख सकते हैं यदि विद्यालयों में आत्मा परमात्मा ईश्वर का धर्म का ज्ञान विज्ञान पढ़ाया जाता तो जितने भी बड़े बड़े M B A PhD professor ये बनते हैं डॉक्टर ये धार्मिक होते धर्मात्मा होते पर अब लगभग सारे के सारे एकाध को छोड़ो अधर्मात्मा उल्टे हैं किसी भी भाग में कोई जाएगा नहर विभाग में जाएगा तो क्या करेगा वो विद्युत विभाग में जाएगा तो क्या करेगा वो दफ्तर में जाएगा बैंक में जाएगा तो क्या करेगा वो वो काम करेगा जो भारत के लिए हानिकारक है क्यों क्योंकि इसको आत्मा परमात्मा की विद्या नहीं पढ़ाई गई उसको धार्मिकता की शिक्षा नहीं मिली उसको धर्म का प्रशिक्षण मिला ही नहीं इसलिए संतुलन बिगड़ा वहां धर्म कर्म समाप्त आई भक्ति की बात इसके संबंध में याद रखिए कुछ लोग तो यहां पर पहुंच गए इस पढ़ाई के कारण ईश्वर को मानते ही नहीं ईश्वर नाम की कोई चीज ही नहीं बच्चा बालक और आज कोई भी ऐसा बच्चा मिलेगा जिसके माता पिता ने उसको संभाल के रखा हो कोई गुरु मिल गया हो जो ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखता हो जो गायत्री मंत्र का जप करता हो संध्या करके रोटी खाता हो और आगे चल करके तो इसका नाम लेना भी बहुत बड़ा अपराध माना जाएगा ईश्वर का ऐसी स्थिति आ चुकी है आने वाली पीढ़ी में आप अपने दस वर्ष के बालक बालिकाओं को देख सकते हैं वो कोई ध्यान करते हो कोई जप करते हो भगवान का एक आधे परिवार को छोड़ो बालक इतनी बुरी तरह बिगड़ रहे हैं उनके चरित्र नाम की चीज कुछ नहीं है आपने सुना होगा अमेरिका जैसे देशों में ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में थोड़ी सी अवस्था उभरते ही लड़के लड़की आचारहीनता में उतर जाते हैं पूरे के पूरे उनको कोई रोक नहीं सकता रोकने की बात छोड़ो उनके ऊपर ऐसे नियम लागू है कि वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं अवैधानिक रूप से हजारों बच्चे बच्ची पैदा होते हैं और वो सरकार के ऊपर जाता है सारा भार सरकार संभालती है बुद्धिमान अमेरिका जैसे देश के बुद्धिमान कहते हैं कितना भयंकर दुख खड़ा हो गया बिना विधान के बिना विवाह के लड़के लड़की पैदा करके छोड़ दिए जाते हैं सरकार उनका पालन पोषण करती है ये सरदर्द उनको रोक नहीं सकते इनके कानून है इनके नियम ऐसे आवश्यकता इस बात की है आज हजारों विद्वान के स्थान पर कहो लाखों चाहिए और वो सब का दिमाग बदले गांव नगरों का दिमाग बदले सरकार का दिमाग बदले इससे तो भारत की रक्षा हो सकती है भारत की स्वतंत्रता बच सकती है वैदिक संस्कृति यहां सुरक्षित रह सकती है अन्यथा इतना तीव्रता से विनाश चल रहा है भारत का उसको रोकना बड़ा कठिन लोगों को असंभव जैसा लगने लगे पर हम ऐसा नहीं मानते हम ऐसा नहीं मानते कि इसको रोका नहीं जा सकता ऐसा मान के नहीं चलते हम चाहे हम अकेले भी क्यों नहीं जब तक हमारा जीवन है अन्याय का विरोध करते रहेंगे और न्याय की स्थापना करते रहेंगे ईश्वर हमारे साथ है वेद दर्शन विद्या हमारे साथ है ऋषि हमारे साथ है हम चलते हैं ऐसे तो व्यक्ति का कर्म बिगड़ा उपासना इतनी बिगड़ गई या तो वो नास्तिक बन गया या है तो वो मंदिर में जाओ और एक बार ऐसे हाथ जोड़ दो हो गया भजन ये लगभग भजन इतना ही है इनको ये पता नहीं ईश्वर की उपासना योग विद्या इतनी अद्भुत विद्या है उसके तुल्य कोई विद्या दूसरी नहीं है ये पता नहीं जब व्यक्ति ईश्वर की उपासना छोड़ देता है तो उस व्यक्ति को अन्याय से कोई नहीं बचा सकता अन्यायकारी बनेगा वो और बिना विधि के जो ईश्वर की उपासना चलती है वो भी अन्यायकारी बनाती है थोड़ा सा मैं दृष्टांत दे तो समझ में आएगा आप काली माई कलकत्ता के मंदिर को देखा सुना हो कभी देखा सुना है एक आध ने तो देखा होगा हम्म या सुना होगा हम्म ये पूजा बता रहा झूठी पूजा बिना सिर पैर की पूजा झूठे ईश्वर की भक्ति बिना सिर पैर की भक्ति भारत में बहुत अधिक है और भारत का विनाश हो गया इस झूठी पूजा जाओ देखो क्या देखोगे एक आपको मिलेगा जहां बकरे का सिर रख के काट दिया जाता उसी जगह दूसरा भैंसे का लंबा चौड़ा स्थान मिलेगा भैंसे का सिर जिसमें रखा जा सके उसको एकदम काट दिया जाएगा ये पूजा के लिए सुना रहा हूं यह है भगवान की पूजा और जो बकरे का सिर काटा था उस सिर वाले मांस को काट छीन पीट करके पाकशाला में पकाया जाता है विधि पूर्वक और सबको प्रसाद के रूप में बांटा जाता है ये भगवान की पूजा है वैसे का सिर भी ऐसे ही ये भगवान की पूजा है और कोई कहे भाइयों बहनों सुनो ये तो भगवान की आज्ञा का उल्लंघन है महापाप है निर्दोष पक्षुओं को आप मार मार के भगवान की पूजा करते हो नहीं वो कहते हैं हाँ जी हमारी तो परंपरा है अच्छा हाँ हमारी तो परंपरा है हमारी पूजा है दक्षिण का व्यक्ति मच्छी खाने वाला पंडित कहलाता है और कहता मैं मच्छी क्यों खाते हूं कहते हमारी कुल परंपरा है मच्छी खाना वो है धार्मिक धर्म का नाम लेकर के कितना विनाश हुआ आज भी हो रहा आप पीछे इतिहास को देखो जिसमें भारत पराधीन हुआ था और लगभग साढ़े सात सौ वर्ष रहा विदेशियों के अधिकार उस समय ये झूठी परंपरा थी पूजा की बिल्कुल झूठी तब ये पराधीन हुआ एक तो ये थी आपको बतलाऊं आपस में भारत के लोग लड़ते थे और कहता था ये हमारा धर्म है ये तुम्हारा धर्म है ये हमारा धर्म के ऊपर लड़ते रहे मरते करते रहे आपस में लड़ते मरते रहे तो तीसरे व्यक्ति ने विदेशी ने आज आक्रमण कर दिया भारत को पराधीन बनाया धर्म के नाम से यदि किसी का थोड़ा सा नाम लो तो आपको आते दिख जचेगी बात राजस्थान के कुछ गांव में अब भी परंपरा मिल सकती है जहां ये कहेंगे ये इस जाति का है ये हमारे साथ खाट पर नहीं बैठ सकता क्या समझ में आया नहीं आया समझ में ये इस जाति का है और हम हैं राजपूत ये हमारी खाट पर बैठ नहीं सकता हमारे आज तक गांव में ये चीज मिलेगी भला इतना विनाश धर्म के नाम से और सुन लो धर्म के नाम से जिस समय विदेशी लोगों ने आक्रमण किया आक्रमण किया जा रहा था उस समय इन पंडे पुजारियों की स्थिति क्या थी ये कहते थे देखो भाइयों ये हमारी मूर्तियां जितनी भी सोमनाथ का मंदिर है ना गुजरात के यहाँ किनारे पर समुद्र के उसकी तलहटी दिखाई देती है नया बनाया उसके पास में नया मंदिर बनाया है वो तलहटी जो ना जो को सफाई कर दी थी जिसकी मार मार के तोड़ तोड़ के तो जब आक्रमण हुआ तो कहने लगे देखो भाई जितने हमारे मंदिर में मूर्तियां हैं इन राष्ट्रों को आप बिल्कुल नाश कर देंगी क्षत्रियों को कहा राजाओं को कहा तुम हाथ पर आदरे बैठे रहो और किसी का नाश नहीं कर सकी गादर मूली की तरह काटा और सारा धन लूट चले गए ये इनका धर्म है धर्म ये या तो नास्तिक है या उल्टा धर्म स्वामी दयानंद सबसे ने एक बात कही उसका भाव सुनाता हूं स्वामी जी कहते हैं इस मूर्ति पूजा ईश्वर की पूजा को छुड़वा बैठी सारी शिव की जो विधि पूर्वक उपासना थी वो मूर्ति पूजा ने खत्म कर दिया उसने मूर्ति में ही विश्वास मूर्ति ही सब कुछ कर देगी मूर्ति ही युद्ध करेगी मूर्ति के पूजा से मोक्ष में चला जाता है ये ये बलि चढ़ाओ इनके विनाश महर्षि ने एक संकेत दिया यदि उस समय ये मूर्ति की पूजा करते रहे मूर्ति पर माथा मारते रहे और यदि ये ईश्वर की भक्ति करते तो शत्रु के दांत खट्टे कर देते ये लिखा सत्या प्रकाश ईश्वर की भक्ति में ये बल है आप ये नहीं मानना कि ईश्वर की भक्ति वाला चुपचाप हाथ जोड़ के बैठा रहता उसमें सारे गुण होते देश जाति की सतत रक्षा करता है जीव स्वामी दान सृष्टि ने देखा विदेशियों का राज्य भारत में हम गुलाम बैठे तो राजाओं से संबद्ध हो गए वो राजस्थान के राजाओं से और ईश्वर राजाओं से संबद्ध हुए कि अपने देश का राज्य होना चाहिए और राजाओं को प्रेरणा दी जगाया ईश्वर पंडितों के पास गए काशी के पंडित भाई सुनो देखो ये अंध परंपराओं को छोड़ दो ईश्वर निराकार की उपासना करो वहां पंडितों का दिमाग बदला उन्होंने ईश्वर राजाओं का दिमाग बदला उन्होंने तो योगी तो देश जाति के लिए जीवन बहुत सा खपाते ये ये देशभक्ति या ये लुटते रहते पिटते रहते फिर तीसरे दिन फिर पिटाई होती है इनकी मंदिरों में दूसरों में होती या नहीं होती वो पीट गया आज उसने पीटा आज उसने पीटा पिटते रहेंगे और लुटते रहेंगे और ठगते रहेंगे इनमें भला इन मंदिरों में कम से कम व्यायाम सिखाते लाठी भाला सिखाते और देश की तो मंदिरों में हजारों लाखों लोग तैयार हो जाते और जब ये दुष्ट पिटाई की बात करते तो उन्हीं की पिटाई होती नहीं वो तो अपने वहां खाता पीता है पड़ा रहता है और कहता तू वहां चला जाएगा तू वहां चला जाएगा तू स्वर्ग में जाएगा ये मंदिर बनाए तो सीधा स्वर्ग में जाएगा गंगा में ऐसे अंदर घुस करके सोना दे दिया तो तू स्वर्ग में चला जाएगा दादा पिताजी मर गए तो सोना दान करो सीधे स्वर्ग में जाएंगे और एक एक तख्त बिछे हुए होंगे गंगा के किनारे पर और दूसरा पुजारी आ जाए तो उसका गला काट काटने के लिए तैयार हो जाए ये इनकी पूजा है गंगा में जाने से सारे पाप खत्म आप भी कुछ सीख लो अपने पर ध्यान दो पहले तो ये बताओ आप कुछ पूजा पाठ प्रातः सायकाल करते हो या नहीं करते जो गांव से आए कहीं से करते हो या नहीं करते उचित पूजा करते हो या अनुचित पूजा करते हो ये भी देखना पड़ेगा उचित उपासना पूजा करना आवश्यक है गलत पूजा करने से कोई लाभ नहीं है उसको सीख लो गुजरात के लोगों को हम बताते जगाते घूम घूम के प्रचार करते सारे तो एक जैसे नहीं कुछ लोग भाग लेते और कुछ लोग तो भाग ही नहीं लेते आते ही नहीं वो नहीं जो सीख लिया उन्होंने पूजा पाठ का उनको कहेंगे देखो भाई विधि से करो कहते नहीं नहीं हमारा तो यही पांच पूरा है ऐसा ही करेंगे हम तो हम तो गणेश जी को ऐसे फूल चला देते हैं इतने से आगे कुछ नहीं अब आप ध्यान देंगे ना तो इससे बुद्धि बढ़ती न व्यक्ति चरित्रवान होता न वीरता की भावना ईश्वर से कोई संबंध नहीं एक बहुत बड़ा विज्ञान है यदि ये जीवात्मा अपने ज्ञान को ठीक कर कर्म को ठीक कर उपासना को ठीक कर ईश्वर से संबद्ध हो जाता है तो बुद्धिमान बन जाता है चरित्रवान बन जाता है धार्मिक बन जाता है और समाज के लिए सब कुछ देने में समर्थ होता है यदि ईश्वर से इसका संबंध नहीं जुड़ता वो व्यक्ति अधार्मिक बन जाता है बुद्धिहीन बन जाता है चरित्रहीन बन जाता है ये परिणाम निकलता है ऑस्ट्रेलिया में एक बात आई लगभग जब तेल के अंदर मिलावट के झगड़े चल रहे थे सरसम के तेल में मिलावट ये चल रहा था उस समय उन्होंने पूछा ये भारत के अंदर करोड़ों लोग ईश्वर की पूजा करते हैं ईश्वर की भक्ति करते हैं और देखो ये व्यापारी लोग तेल में तेल में मिलावट कर करके बेचते हैं इतना चरित्र गिर गया इतना भक्ति मैंने कहा भक्ति इनमें एक भी नहीं करता सब झूठ है आडंबर है भक्ति के ऊपर कोई दोष नहीं भक्ति न करने वाले की घटना सुना रहे हो आप भक्ति व्यक्ति के चरित्र को ऊंचा बनाती है भक्ति इसको बुद्धिमान बनाती है भक्ति इसको देश भक्ति बढ़ती है भक्ति व्यक्ति के लिए तन मन धन औरों के लिए समर्पित कर देता है मिलावट की बात तो दूर रही प्रश्न ही नहीं उठता मिलावट जैसी चीजों में एक और तो जैसे पूजा कर दी पाठ कर दिया और खाद्य वस्तुओं में कहते हम तो भगवान के मानते आए हमारा दादा मानता था हमारे पिता मानते हम भी मानते चार पीढ़ी हो भगवान को मानते भगवान को मानता जन्म में सारी गली सीढ़ी चीज देगा उसको मिलावट करेगा उसमें काली मिर्च में पपीते के बीज पपैया के बीज है मिलाएगा उसको और तो और जहर में भी मिलावट एक व्यक्ति ने चुटकला सुनाया चुटकला सुनाते ना हमारे भजन पर कई बार वो मिलावट की बात कर रहे हैं तो कहते हैं देखो भाई आज तो मिलावट इतनी सीमा पार कर गई है और तो और जहर में भी मिलावट उसने दृष्टांत बनाया कहा कि एक व्यक्ति का आपस में झगड़ा हुआ दूसरे से दोनों की तू तू मैं हो गई तनाव हो ही गया था तो एक व्यक्ति ने सोचा जहर खिला के मारो इसको वो जहर खरीद के ले आया और जहर खरीद के ले आया और ला करके इसको मारना उसको तो खिला दिया मरा ही नहीं कहता भाई नकली जहर आ गया आप याद रख लो कम तो कम से कम सत्संग आती कम हो आप और अब सुधार करना शुरू कर दो और या तो महाराणा प्रताप बनाओ या झांसी की रानी ये नाचने गाने वाले लड़के लड़के पैदा मत करो प्रचार करो यदि ऐसा नहीं करेंगे तो फिर वही पराधीनता विदेशियों के हाथ में भारत सारी धन संपत्ति लूट के जैसे पहले ले गए थे अब जितनी इकट्ठी की है सारी को ले जाएंगे आपके मन में ये बात है या नहीं जानने वाले जानते हैं कि भारत इतनी इतनी कानूनों में विधानों में पराधीन हो चुका है भाषा की दृष्टि से बिल्कुल पराधीन है गुलाम बना रखा है उसको भाषा की दृष्टि ना अपनी भाषा संस्कृत है ना हिंदी है ना गुजराती है न तेलुगु है वो विदेशी चलती है चार वर्ष के बच्चे को विदेशी रटाई जाती है और कहते हम मान बन गए हम मान बन गए क्योंकि हमारा पांच वर्ष का बच्चा इंग्लिश बोलता है इनका तुम्हारा विनाश हो गया मान का मन विनाश हो गया अपनी भाषा पहले पढ़ा दो अपनी भाषा पहले रहेगी राज्य की भाषा अपनी होगी विदेश की नहीं हो सकती व्यवसाय के लिए हम मना नहीं करते भाषा को व्यवसाय के लिए विदेशी भाषा सीखो उसका तीसरा स्थान दे दो या तो दूसरा नहीं बराबर भी नहीं है अपनी भाषा तो इंग्लिश के बराबर नहीं है अपनी भाषा इंग्लिश पहले है अपनी भाषा बिल्कुल उखाड़ के फेंक दी है अन्याय हो रहा है हम गुलाम बना दिए और समझ रखना परीक्षण किया लोगों ने ये विदेशी भाषा रखने वाले कौन है भारत के लोग हैं कितने हैं उन्होंने बताया लगभग ये व्यक्ति चार हजार है जो पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्था देते हैं ऊपर से चार हजार के लगभग है माला माल है वो जो पढ़ाएंगे वो पढ़ी जाएगी वो नहीं पढ़ाएंगे उसको मना कर दिया जाएगा वो सारा भारत उसको गुलाम बना रखा है एक अरब से ऊपर लोग गुलाम बना रखे उन चार हजार लोगों ने वो माला माल है और हम पराधीन बिल्कुल ये स्वार्थी लोग भारत इतने लोग पराधीन बनाए बैठे हैं भाषा की दृष्टि अब और सुन लो ये भयंकर उल्टा प्रचार किया जाता है झूठ कि इंग्लिश भाषा विदेश की भाषा सारी विश्व की भाषा बन चुकी है ये पाठ पढ़ाया जाता है ये तो पढ़ नहीं पड़ेगा परीक्षण क्या कहता है ये भी याद कर लो एक विद्वान डॉक्टर ने परीक्षण किया है भारतीय पहले के रहते इंग्लैंड में उन्होंने कहा यह सोलह यानी झूठ है कि विश्व की भाषा बन चुकी है लगभग विश्व के देश मैंने जैसा सुना है दो के लगभग माने जाते हैं क्या समझ में आया लगभग इतने अधिक हों जो भी उनमें उन्होंने बताया लगभग चार देशों के लगभग ये राजकीय भाषा है राजगद्दी की भाषा है शेष किसी देश की राजगद्दी की भाषा नहीं इंग्लिश क्या रूस की भाषा ये है क्या चीन की भाषा ये है या जापान की भाषा ये है या फ्रांस की भाषा ये है जर्मन की भाषा ये है अब कहेंगे नहीं नहीं ये विश्व की भाषा बन चुकी है सबको बताया जा रहा है ऊपर से गुलामी